भला वो कौन है जो खुशकी और समंदर के अंधेरों में तुम्हें रास्ता दिखाता है और जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाएं भेजता है जो तुम्हें बारिश की खुशखबरी देती हैं क्या फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है नहीं बल्कि अल्लाह उस शिरक से बहुत बाला उबरतर है जिसका इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं